सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक आठ मालिक हमारे भीतर है माया आप खड़ी भई आगे ननन काजर लाए हालांकि माया बहुत लुभाएगी आंखों में काजल लगाएगी आगे आगे खड़ी हो जाएगी तुम बाएं मुड़ोगे दाएं मुड़ोगे तुम इधर जाओगे तुम उधर जाओगे हमेशा आगे आगे आएगी रिझाएगी माया आप खड़ी भई आगे नैनन काजर लाए नाचे गावे भाव बतावे मोतिन मांग भराए मोतियों से मांग भरेगी अपनी सुंदर सुंदर रूप धरेगी नाचेगी गाएगी बहुत तरह के भाव बताएगी और सारा मजा यह है कि ये सब तुम्हारे ही मन के खेल है ये मोती तुम ही उसकी मांग में भर रहे हो और ये नाच गान तुम ही उसमें डाल रहे हो ये जो माया का सौंदर्य है ये तुम्हारी कल्पना सृष्टि है लेकिन बड़ी भूल हो रही समझने में क्योंकि प्रोजेक्टर वो जो प्रक्षेपण का यंत्र है पीछे तुम जब फिल्म देखते हो तुम्हारी नजर तो पर्दे पर लगी होती लेकिन असली खेल पर्दे पर नहीं है असली खेल तो पीछे तुमसे पीछे जो दीवाल है पीठ की तरफ वहां प्रोजेक्टर है वहां से खेल चल रहा है प्रत्येक व्यक्ति का मन एक प्रोजेक्टर है एक प्रक्षेपण यंत्र है सामने खेल दिखाई पड़ रहा है और इसलिए तुम्हें भ्रांति हो जाती कि खेल वहां होना चाहिए जहां दिखाई पड़ रहा है लेकिन तुम्हारा मन सारा खेल फैला रहा है जिन्होंने मन को पूर्णतया शांत कर दिया वो बड़े चकित हुए मन के शांत होते ही सारा खेल खो जाता है माया विलीन हो जाती लेकिन ये भ्रांति स्वाभाविक है क्योंकि तुम्हारी नजरें आगे टिकी तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो गर्मियों की छुट्टियों में शहर से गांव लौटे नौजवान चंदुलाल की दोस्ती गांव की एक लड़की से हो गई धीरे धीरे संबंध आगे बढ़े मेल मुलाकातें बढ़ी एक दिन खेत में शाम के वक्त वे दोनों घूम रहे थे पास ही में एक गाय और बछड़ा आपस में मुंह रगड़ रहे थे चंदुलाल ने उनकी ओर इशारा करते हुए शर्मा कर डरते डरते अपनी प्रेमिका से कहा बुरा ना मानना मेरा मन भी ऐसा ही करने का होता है प्रेमिका बोली अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है और इतना डर क्यों रहे हो शौक से करो आखिर यह गाय मेरे चाचा जी की ही तो है इसमें शर्माने की बात ही क्या है चंदूलाल कुछ कह रहे हैं चंदूलाल की प्रेस ही कुछ और समझ रही कुछ है और कुछ समझा जा रहा है बस यही माया है यही भ्रांति है यही हमारा भटकाव है रोवे माया खाए पछारा तनिक न गाफिल पाऊं जब देखो तब ज्ञान ध्यान में कैसे मारी गिराऊं और अगर तुम नाचने गाने से न माने तो माया रोएगी भी छाती भी पीटेगी रोवे माया खाए पछारा पछड़ पछड़ जाएगी गिर गिर पड़ेगी लेकिन पलटू कहते मुझे उलझाने का कोई उपाय नहीं न तेरा नाच न तेरा गीत न तेरा रोना न तेरा पछाड़ खा के गिर पड़ना मैं जानता हूं कि सब मेरे मन का खेल है इसलिए मैं गाफिल नहीं मैं होश से भरा हूं मैं जागा हुआ हूं तू कर अपने सारे खेल तू दिखा अपने सारे खेल मैं जानता हूं भली भांति ये सब खेल मेरे ही निर्मित मैंने ही अतीत में ये बीज बोए थे जो आज फसल बन के खड़े हो गए हैं सरकारी राशन की दुकान के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी और एक व्यक्ति जो कि बगल में एक बड़ा सा थैला दबाया हुआ था बार बार भीड़ को चीर कर आगे निकल जाने की कोशिश कर रहा था मगर भीड़ भी आखिर भीड़ कैसे कोई आगे निकल जाए वह बार बार धक्के मार मार कर उस व्यक्ति को पीछे ढकेल देती थी जब तीन घंटे हो गए और वह व्यक्ति धक्के खा खा के परेशान हो गया तो भीड़ के संबोधित करके बोला कि भाइयों एवं बहनों यदि आप लोगों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें कह देता हूं कि दुकान आज फिर बंद ही रहेगी क्योंकि दुकान खोलूंगा तो मैं ही ना वो दुकान का मैनेजर उसके बिना दुकान नहीं खुल सकती माया की कुंजी तुम्हारे मन के पास है तुम जरा मन को एक तरफ हटा कर दो फिर लाख माया उपाय करे दुकान नहीं खुल सकती तुम्हारे भीतर माया की कुंजी है यह हमारा सौभाग्य कुंजी किसी और के पास होती तो शायद संसार में फिर मुक्त होने का कोई उपाय न था फिर तो मुक्ति भी एक तरह की गुलामी होती कोई दूसरा मुक्त करता तो हम मुक्त होते लेकिन चूंकि कुंजी हमारे पास है ये हमारा चुनाव है हम चाहें तो गुलाम रहें और चाहें तो मालिक हो जाएं पलटू कहते हैं हम तो मालिक हो गए इसलिए हम पर अब तेरा जोर ना चलेगा जब देखो तब ज्ञान ध्यान से मैं तो तुझे ज्ञान और ध्यान के जगत से देख रहा हूं मैं तो अपने साक्षी भाव में थिर हूं और मेरे साक्षी भाव में अगर कोई भी बात है तो बस एक ही है कि कैसे तुझे मार गिराऊं सदा के लिए कैसे तुझे मार गिराऊं की तरह उठना ही संभव ना रह जाए इतना तो हो गया है कि मैं जाग गया हूं और तू मुझे धोखा नहीं दे पाती लेकिन इतना अभी नहीं हुआ है इतना नहीं जाग गया हूं कि तेरा आना ही बंद हो जाए अध जगा हूं ऐसी थोड़ी थोड़ी जैसे सुबह कभी कभी तुम्हारी अवस्था होती नींद भी नहीं जागे भी नहीं थोड़ा थोड़ा जाग भी गए हैं राह पर कोई गुजरता है तो आवाज भी सुनाई पड़ती है बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं तो आवाज सुनाई पड़ती है पत्नी चौके में चाय बनाने लगी है तो केतली में होती आवाज सुनाई पड़ती है चाय की गंध भी तुम्हारे नासापोटों तक आने लगी है सुबह के सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही हैं उनकी गर्मी भी मालूम हो रही लेकिन फिर तुम एक करवट लेके सो गए सोचते अभी और पांच दस मिनट सोए भी नहीं हो जागे भी नहीं हो ध्यान की अवस्था का अर्थ होता है न तो सोए न जागे और समाधि का अर्थ होता है पूर्णतया जागे समाधि ध्यान की ऐसी समग्रता है कि जिससे फिर नीचे नहीं गिरा जा सकता लेकिन ध्यान से तो चूक होती ध्यान से तो बहुत बार तुम चूक जाओगे स्मरण करते करते भूल जाएगा मेरी बीबी मुझे आदमी नहीं जानवर भी नहीं बल्कि कीड़ा मकोड़ा समझती मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मुझसे कह रहा था वह अक्सर मुझे मक्खी मच्छर तिलचट्टा भुनगा आदि भी कहती और कभी कभी बहुत गुस्से में तो चींटा जुआ दीमक तक कह बैठती और आजकल इतना ही नहीं वह मुझे पिस्सू तक कहने लगी अरे बड़ी दुष्ट स्त्री है मैंने उससे कहा ऐसी बुरी स्थिति में आखिर तुम करते क्या हो मैं क्या करूंगा भला नसरुद्दीन ने भयभीत स्वर में जवाब दिया बस इतना ही करता हूं कि डीडीटी फिलिट वगैरह घर में नहीं रखता कि कहीं मुझ पर छिड़क कर प्राण ही ना ले ले और मलेरिया वाले जब छिड़काव के लिए आते हैं तो उन्हें बाहर से दस पांच रुपए देकर भगा देता हूं अब अगर बीबी जन्म भर से यही कह रही हो कि तुम चिलचट्टा हो भुनगा हो सुनते सुनते भरोसा आ गया होगा सम्मोहित हो गया होगा किसी चीज की पुनरुक्ति बार बार की जाए तो हमें उस पर भरोसा आने लगता है ऐसे ही तुम्हें माया पे भरोसा आया है जन्मों जन्मों की पुनरुक्ति है अनंत काल से तुम्हारा मन यही बातें दोहराता रहा है और धन और पद और प्रतिष्ठा और यस और और की धुन लगा रखी है 24 घंटे और और के लिए तड़फ रहा है तुम उसकी धुन सुनते सुनते सुनते सुनते सम्मोहित हो गए हो माया है सम्मोहन एक तरह का भ्रम जो निरंतर दोहराने से सत्य जैसा मालूम होने लगा है अब पत्नी ही नहीं मानती कि नसरुद्दीन पिस्सू है नसरुद्दीन भी मानने लगा है और भयभीत है और डरा हुआ है माया का ये जो तुम्हारा सम्मोहन है संतों की सदा से एक ही चेष्टा रही कैसे तुम्हें झकझोर दें कैसे तुम्हें इतना हिला दें कि तुम्हारा यह सुनिश्चित हो गया सम्मोहन टूट जाए कैसे तुम्हें असम्मोहित कर दें इसलिए निरंतर बुद्ध पुरुष चिल्लाते रहे तुम सुनो कि न सुनो पुकारते रहे तुम मानो कि न मानो तुम उन्हें सूली चढ़ाओ तुम उन पर पत्थर फेंको मगर वे हैं कि अपने धुन के मस्त वे तुम्हें पुकारते ही चले जाते क्योंकि उन्हें दिखाई पड़ता है कि सिर्फ तुम्हारी मान्यता ने अड़चन डाल दी एक बार मेरे पास एक आदमी को लाया गया उसका मस्तिष्क कुछ विक्षिप्त जैसा हो गया था उसे यह भ्रांति हो गई थी कि दो मक्खियां उसके भीतर घुस गईं क्योंकि वो मुंह खोल के सोता है और दो मक्खियां एकदम भीतर चली गई अब वो निकलती नहीं वो भीतर भन भन भन भन भन कर, कर रही पेट में जाती हैं कभी सिर में चली जाती हैं कभी पैर में घुस जाती अब मक्खियों का क्या डॉक्टरों के पास ले जाया गया बहुत चिकित्सा की गई उसकी क्या चिकित्सा हो सकती कोई बीमारी हो तो चिकित्सा हो जाए माया कोई बीमारी नहीं है कि उसकी चिकित्सा हो जाए इसलिए माया की कोई औषधि नहीं परेशान हो गए घर के लोग उसकी पत्नी उसे मेरे पास ले आई कहा कि हम आपके सिवाय आप कहां जाएं हम परेशान हो गए आप ही कुछ करो मैंने कहा कि ये मेरा धंधा ही है तू ठीक जगह आ गई इतने दिन तू भटकी क्यों लोगों को मक्खियों से छोड़ाना यही मेरा काम उसने कहा क्या और लोग भी इस तरह के मैं तो सोचती थी ये बीमारी मेरे पति को ही हुई है मैंने कहा तू फिक्र छोड़ ये सभी पतियों को है पत्नियों को भी है पहले इसकी छोड़ा दूंगा फिर तेरी छोड़ा दूंगा लेकिन मुझे उसने कहा है ही नहीं मैंने कहा तू समझी नहीं बात अलग अलग तरह की मक्खियां हैं बीमारी बहुत ढंग से आती है ये उसने कहा होगा आप आध्यात्मिक बातें न करें मेरे पति की किसी तरह ये दो मक्खियों से छुटकारा दिलवा दें बस पति ने कहा कि बहुत मुश्किल है कितना तो इलाज करवा चुके कितनी दवा पी चुका दवा पी पी के परेशान हो गया क्योंकि मैं दवा पीता हूं दवा पेट में गई मक्खियां सिर में चली जाती आखिर मक्खियों को दवा कैसे पीछा करे मैंने कहा कि तू घबरा मत उसे मैंने कहा तू लेट जा बिस्तर पे आंख बंद कर ले ये मक्खियां हैं मेरी समझ में आ रही उसने कहा पहले आदमी अब तक जितने डॉक्टरों के पास गया वो सब कहते हैं सब मन का ख्याल है मन का गधे हैं अरे मक्खियां कहीं मन का ख्याल और ये तो साफ दिखाई पड़ रही कि तेरे भीतर घूम रही उसने कहा हाथ में हाथ दीजिए आप पहले आदमी जिस पर तो मुझे भरोसा आया आप शायद कुछ कर पाए क्योंकि मुझे उन पर शक ही पहले ही हो जाता जब वो कहते हैं मक्खियां हैं ही नहीं ये क्या खाक मेरा इलाज करेंगे जो बीमारी नहीं मान रहे जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं जो मेरा प्राण लिए ले रही मक्खियां ना सो सकता ना बैठ सकता ना काम कर सकता क्योंकि भन भन भन भन उनका चक्कर जारी है इधर मैं इतना परेशान हो रहा हूं इन सज्जनों को सूझी ज्ञान की बातें कि मक्खियां हैं ही नहीं बस मन का ख्याल अरे मन का ख्याल मैं क्या कोई पागल पागल कभी नहीं मानते कि वो पागल मैंने कहा तुम और पागल तुम बिल्कुल समझदार आदमी हो तुम गिनती तक ठीक कर रहे हो दो मक्खियां बिल्कुल दो हैं तुम लेट जाओ बिस्तर पर आंख बंद कर लो उसकी आंख पे मैंने पट्टी बांध दी और मैंने कहा कि तुम विश्राम करो मैं जरा मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करता हूं कभी मैंने उसका पैर दबाया कभी उसका पेट दबाया वो बड़ा प्रसन्न था कि एक आदमी तो मिला जो मानता है कभी उसके सिर पे हाथ रखा उसने कहा हाँ, बिल्कुल यही है फिर मैं भागा घर में मैंने फिक्र की कि किसी तरह दो मक्खियां पकड़ लू अभी कभी मक्खियां पकड़ी नहीं थी पहले बा मुश्किल पड़ोसी के पास गया पड़ोसी के घर में मिल गई मक्खियां और वो भी मिली ऐसे कि उनकी तेल की बोतल खोपड़े के तेल की बोतल वो कभी कभी मैं देखता था धूप में रखी पिघलने के लिए सर्दी के दिनों में उसमें मुझे मक्खियां दिखाई पड़ती थी तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी बोतल आज काम आ जाएगी वो दो मक्खियां उसमें से निकाल दो वो दो मक्खियां निकाल के लाया एक सीसी में बंद की जंतर मंतर जो भी करने थे वो किए आखिर उस आदमी की आंख खोली बोतल उसके हाथ में थमा दी उसने कहा कि ये कोई बात हुई ये रही मक्खियां उसने कहा बुलाओ मेरी पत्नी को मूर्ख मेरा तीन साल से प्राण खाए जा रही कि छोड़ो ये मक्खियां हैं नहीं तुम नाहक अब ये मक्खियां कहां से आई उसकी पत्नी को मैंने कहा कि अब तू मत कहना कुछ और तू मान लेना कि हां हमारी गलती थी वह आदमी ठीक हो गया वो मक्खियां गई वो भन भन गई वो झंझट उसकी समाप्त हुई बहुत बार बुद्ध पुरुषों को तुम्हारे लिए न मालूम कितने उपाय ईजाद करने पड़े क्योंकि तुम्हारी बीमारी मौलिक रूप से व्यर्थ है और झूठी है इसलिए कोई उपाय वस्तुतः सत्य नहीं है इसलिए सारे बुद्धों ने कहा है एक दिन उपाय भी छोड़ देना क्योंकि उपाय सिर्फ तुम्हारी झूठ बीमारी को अलग करने के लिए जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकालने फिर दोनों को फेंक दें पलटू कहते हैं रोवे माया खाए पछारा तनिक न गाफिल पाऊं बस इतना ही ख्याल रखता हूं कि तनिक भी अपने को गाफिल ना पाऊं क्योंकि मैं गाफिल हुआ कि माया का कब्जा हुआ मैं होश में रहूं तो माया का कब्जा नहीं होता जब देखो तब ज्ञान ध्यान से कैसे मार गिराऊं बस एक ही सूरत बंधी एक ही टेक लगी है कि कब ऐसा प्रज्वलित प्रकाश मेरे भीतर हो जाए जो कभी ना बुझे कब ऐसी ज्योति जल उठे ज्ञान की ध्यान की कि उसकी रोशनी में ये माया फिर निर्मित ना हो सके ये निर्मित अंधेरे में ही हो सकती है और जब तक अंधेरा है तब तक तुम लाख बचो बच नहीं पाओगे चंदुलाल ने अदालत में अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए अर्जी दी थी तलाक की अर्जी में उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी पत्नी लगातार पिछले तीस वर्षों से कोई ना कोई वस्तु जैसे बेलन गुलदान थाली इत्यादि फेंक फेंक कर मार रही मस्जिद ने चंदुलाल से कहा चंदुलाल तुम्हारी शिकायत समझ में आती है बिल्कुल ठीक है पत्नियां इस तरह के कार्य करती हैं यह ज्ञात है मैं भी शादीशुदा हूं लेकिन तुम्हारी पत्नी पिछले तीस वर्षों से बेलन गुलदान और ना जाने क्या क्या फेंक फेंक कर मारती रही और तलाक के लिए अर्जी तुम आज दे रहे हो चंदूलाल ने कहा क्या करूं हुजूर पहले तो जब यह बेलन इत्यादि फेंक कर मारती थी तो निशाना चूक जाता था लेकिन कल से इसका निशाना बिल्कुल अचूक हो गया है अब इसके साथ जीना बिल्कुल असंभव बिल्कुल मुश्किल और मैं जागा रहता हूं तब मारती है तो सिर बचा लेता हूं उचक की जगह हट जाता हूं मगर मैं सोया रहता हूं तब भी मारती और निशाना इसका अचूक हो गया अब नहीं चल सकता यह संबंध नींद में तुम हो और किसी का निशाना अचूक हो तो तो बचने का उपाय भी नहीं ऐसी ही दशा है माया से तलाक लो माया से तलाक का नाम सन्यास है और माया से तलाक का अर्थ क्या होता है यह नहीं होता कि भाग खड़े हुए जंगल की तरफ माया के तीर जंगल तक पहुंच जाएंगे अगर तुम नींद में हो माया का फैलाव बड़ा है दूर दूर तक उसके तीर पहुंच जाएंगे इसलिए सवाल भागने का नहीं है जागने का है तुम जहां हो वहीं जाग जाओ फिर माया का कोई तीर तुम तक नहीं पहुंच सकता माया ही मर जाती इधर तुम जागे कि माया मरी तुम जब तक सोए हो माया जीवित है तुम्हारी निद्रा ही माया है इसलिए बुद्ध ने कहा है मूर्छा माया है संसार नहीं मूर्छा महावीर ने कहा निद्रा माया है संसार नहीं निद्रा रिद्धि सिद्धि दुई कनक समाजी वस्तु डिगन को भेजा और वो कहते हैं जैसे जैसे मेरा ध्यान संभल रहा है वैसे वैसे माया नई अड़चने खड़ी कर रही रिद्धि सिद्धियां भेज रही अब उसने और सूक्ष्म उपाय खोजने शुरू किए अब धन नहीं भेजती क्योंकि धन की व्यर्थता मैंने देख ली अब पद नहीं भेजती पद की व्यर्थता मैंने देख ली अब रिद्धि सिद्धियां आनी शुरू हो गई अब मेरे हाथ में चमत्कार की शक्ति आ रही कि मिट्टी छू तो सोना हो जाए कि मुर्दे को छू तो मुर्दा जग जाए पलटू कहते हैं मैं भली भांति पहचानता हूं यह भी माया के अंतिम जाल है और अगर मैं इनमें उलझ गया तो वापस पुनः गिर पड़ूंगा ये सारी ऊंचाइयां खो जाएंगी फिर वहीं के वहीं मन सब तरह के उपाय करता है अपने को बचाने के रिद्धि सिद्धियां मन को बचाने के उपाय और बड़े सूक्ष्म उपाय और ऐसे प्रीतिकर और ऐसे मधुर और ऐसे स्वादिष्ट कि छोड़ने का मन ना हो मन जहर भी देगा तुम्हें तो शक्कर चढ़ा के देता है शक्कर में पाक के देता है रिद्धि सिद्धि दोई कनक समाजी वस्तु डिगन को भेजा मुझे डगाने को मुझे हिलाने को मेरे ध्यान को खंडित करने को मेरी निश्चल हो गई झील में लहरें उठाने को अब ये रिद्धियां सिद्धियां आ रही तीन लोक में अमल तुम्हारा यह घर लगे न तेजा लेकिन ख्याल रखो होगा तीन लोकों में तुम्हारा विस्तार मगर इस घर में तुम्हारा तीर नहीं लगेगा रिद्धि सिद्धि भी मुझे धोखा नहीं दे पाएंगी इसलिए सच्चा साधु चमत्कार नहीं करता सिर्फ झूठे साधु सच्चा साधु चमत्कार नहीं कर सकता क्योंकि चमत्कार करने का अर्थ ही यह हुआ कि गिर गया समाधि से पहुंचते पहुंचते चूक गया शिखर छूने छूने के करीब था कि फिर भटक गया फिर रिद्धि सिद्धियों का अहंकार खड़ा हो जाएगा तीन लोक में अमल तुम्हारा यह घर लगे न तेजा पलटू कहते हैं लेकिन तू भी जान रख इस घर में तेरा तेजा ना चलेगा तेरा तीर ना चलेगा इस घर में तेरी गति नहीं होगी चलता होगा तीन लोग में तेरा अमल तू जान तेरे तीन लोग जान जाने तू क्या माया मोही नचावे बड़ा प्यारा वचन वो कहते क्या तू मुझे नचाएगी मैं हूं बड़ा नचनिया मैंने कई को नचाया है मैं खुद नचाने का धंधा ही करता रहा हूं मेरा काम ही यह है मेरा व्यवसाय ही यह है तू मुझे क्या नचाएगी ईवा बानिक लगे न तेरी यहां तेरा दांव चलने का नहीं मैं हूं पलटू बनिया तू ख्याल रख मैं पलटू बनिया हूं मैंने बहुतों को नचाया है मैं सब धोखे धड़ियां जानता हूं ऐसी कौन धोखाधड़ी जो मैंने नहीं की ऐसी कौन सी जालसाजी है जो मैंने नहीं की ऐसी कौन सी बेईमानी है जो मैंने नहीं की मैं हूं पलटू बनिया मैंने ये सब व्यापार खूब कर लिया है जन्मों जन्मों से कर लिया है मैं कोई सीधा साधा ब्राह्मण नहीं हूं कि पूजा पाठ करके बैठा रहा हूं मैंने सब जुए खेल लिए प्यारी बात कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं मैंने सब धंधे सब गोरख धंधे कर डाले तू मुझे नहीं नचा सकेगी इसलिए मैं भी तुमसे कहता हूं जीवन से भागना मत नहीं तो माया तुम्हें कहीं भी उलझा लेगी तुम कच्चे रहोगे तुम्हें माया के जालों का अनुभव ही ना होगा तुम संसार में जियो ठीक से और माया के सारे खेल पहचान लो संसार माया के खेल पहचान लेने के लिए परम अवसर है बागोमत मत तुम भी किसी दिन ऐसी समर्थ अवस्था में हो जाओ ये मैं चाहता हूं कि कह सको कि मैं हूं बड़ा नचनिया मैंने बड़े बड़ों को नचा दिया है तू मुझे ना नचा सकेगी ईवा बानिक लगे न तेरी मैं हूं पलटू बनिया